ऐसा अच्छा दाव कैसे लगेगा दिल्ली में जाते हनुमान पहलवान जीवित है या मर गए मुझे पता नहीं तो वहां आप बताइए कैसे दाव लगाते हैं अपने शिष्यों को क्या सिखाते हैं आप तो उनसे पूछना तो मैंने सावधानी से आरंभ की कुश्ती और झट पकड़ के दाव लगाए धमाक पकड़ दिया पटक दिया वो और वो जैसे गामा ने तो किसी को पटका था ना तो देख है गामा विश्व प्रसिद्ध पहलवान थे मुझे इसका याद नहीं आज विदेशी थे जित करने वाली कुश्ती थी और विदेशी पहलवान थे वो और विश्व में शायद प्रथम स्थान था ऐसा मैंने कुछ सुना और कामा के पहलवान गए तो भारत को तो कोई जगह नहीं देता था कुश्ती करने के लिए ऐसी स्थिति बनी हुई थी मुश्किल से उसको मिली थी गाँव और भी बात बोलते हैं इसको लाओ को भी जैसे कपड़े मारता ना ये देखा कभी आप है घुमा के डालता कपड़े को ऐसे ऐसे और इस दाव में एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के और पूरे हाथ को पकड़ करके पूरे हाथ ऐसे मार राम के आगे उतारते जो तो भी बात गाँव आने में इतने तगड़े पहलवान को इतनी देर में उस दाव से आश्चर्य में पड़ गया क्या हुआ चित्त कर दिया इतनी देर तो हमने तो अध्यापक जी को इतनी देर में चित्त कर दिया कहेंगे नहीं इस बार तो ठीक कुश्ती नहीं हुई दूसरी बार करेंगे मैंने कहा अच्छा दूसरी बार करो दूसरी बार फिर मारा फिर कहने हाँ ठीक बात है ब्रह्मचारी तगड़े <laughs> आप क्या देखिए सूखे से पड़े ये रणबीर जी लकड़ की तरह ये लकड़ी की तरह अरे हरी क्या नाम है रवि जी लकड़ी की तरह वो तो आए नए हैं वो लकड़ी की तरह वो भी लकड़ी की तरह वो नए आए हैं लकड़ी की लकड़ी इकट्ठी हो रही है <laughs> क्यों क्योंकि इसमें कारण क्या है आपको संतुलन नहीं आता है विद्या धर्म और बल ये तीनों के तीनों संतुलित होकर चलाने पड़ते हैं विद्या एक धर्म दो बल तीन संतुलन जब खो देता है व्यक्ति तो दोष पे दे दिया जाता है कि देखो ये लोग गुरुकुलों में पढ़ते हैं दर्शन को पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं और देखो इनका सारा ढांचा जीवन का वो क्यों वो संतुलन नहीं आता इनको पढ़ने पढ़ाने वाले शरीर को स्वस्थ बनाना है बलवान बनाना है उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है व्यायाम करने में पसीना पसीना होना पड़ता है हाफने लग जाता है यदि जोर से कुश्ती की जाए पांच मिनट और दस मिनट में व्यक्ति मुंह से सांस नहीं ले सकता क्या समझ में आया नहीं आया तो फिर हूं ना उल्टा हो गया नाक से सांस नहीं ले सकता नहीं ले सकता कश्ती करके देख लो पांच मिनट बराबर के पहलवान से कुश्ती करो दस मिनट में पंद्रह मिनट में व्यक्ति इतना थकता है वो हा मुंह से कुत्ते की तरह सांस लेता है कुत्ता मुंह से लेता है नहीं पता आपको या चले जाते हैं ध्यान नहीं करते कुत्तों का है गर्मी के दिनों में विशेष करता है अब दौड़ लगाइए आप पंद्रह मिनट जितना शक्ति हो आप नाक से सांस नहीं ले सकेंगे मुंह से लेना पड़ेगा नहीं देखा कभी व्यायाम में भी जब इतना थकता है व्यक्ति मुंह से सांस लेना पड़ता नाक से लेना उपयोगी है पर वो तो ऐसी स्थिति है मुंह से ले बिना काम ही नहीं चल सकता आपने थोड़ा सा खाया पिया और पड़े रहे फिर बीमार हो गए ना व्यायाम करना ना कोई काम करना कहते जी पानी खराब है फिर कहते हैं कि जी भोजन खराब है इधर उधर की बात मिलाता रहेगा <laughs> अपना कोई दोष नहीं देतेगा सारे दोष दुनिया के बाहर के गिनाएगा और अपना दोष को जी मैं भी खा जाता हूँ बिना भूखे खा जाता हूँ और व्यायाम करता नहीं ना कोई शारीरिक परिश्रम करता फिर कहेगा शरीर खराब हो गया खराब हो गया तो पढ़ाई लिखाई नहीं चलेगी पढ़ाई भी नहीं होती उसकी पढ़ना लिखना भी कम उसमें कमजोर फिर योगाभ्यास में भी कमजोर अब कमजोर बन करके खड़ा हो गया कठपुतली की तरह और कहते ये ब्रह्मचारी पढ़ के आया है <laughs> लोग कहेंगे देखो ये अच्छा उसको व्यवहार इतनी मूर्खता करेगा वो आपको बहुत बताया जाता है व्यवहार के विषय में यदि आप ध्यान दें तो कोई व्यक्ति आपको अव्यवहारिक व्यवहार को न जानने वाला नहीं कह सकता ये हो ही नहीं सकता गुरुकुल में जो विधि पुरुष पड़ेगा उस जैसा व्यवहार किसी को नहीं आता और जो सीखते ही नहीं ना ऋषियों की बातों को साथ जोड़ते ना गुरु की बात की ऐसी स्थिति सिखाने में भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता तो वैसा बना देते हैं जैसे ये गुरुकुल का पढ़ा लेगा पागल है कहीं तो पागल मत बन जाना आप लोगों की दृष्टि में आप गए समाज में व्यायाम करने लगे और वह माताएं पहने भी आती जाती हैं और लंगोट बांध के पूजने लगे जी व्याम खूब करते थे दर्शन क्योंकि ये मूर्ख व्यक्ति है यहाँ लंगोट बांध के थोड़ा व्यायाम करते हैं तो अंगोछा बांधो या ओट में करो नहीं गति से व्यवहार नहीं आता वहां पागलपन दिखा दिया उसने या नहीं देखा कभी आपने ऐसा होता है नहीं होता है नी फिर कैसे रोकोगे उसको ध्यान दोगे या नहीं दोगे कहां पर कैसे व्यवहार करना चाहिए अब वो आप प्रवचन देने उपदेश और बड़े बड़े का नाम लेकर के ऐसा खंडन किया इतना खंडन किया अवस्था थोड़ी इतना प्रभाव है नहीं सारे लोग नाराज भाई मंडन प्रधान बोलते खंडन प्रधान थोड़ा ही बोलना चाहिए छोटे ब्रह्मचारी को इसको बहुत बड़ी अवस्था हो बहुत माना जाना व्यक्ति हो बहुत उच्च कोटि का विद्वान हो योगाभ्यासी हो उसकी बातों का दर्शन तो कर लेंगे लोग क्या समझ में आया नहीं आया समझ में या फिर दोहराऊं और एक है पच्चीस वर्ष का या तीस का पैंतीस का या आसपास में और वो व्यक्ति धारावाही बहुत भयंकर कठोर शब्दों का खंडन करने लगे अधिकारियों का ही खंडन करने डाले उसका खंडन करने डाले कठोर शब्दों में कहता रहे कुछ का कुछ कहता रहे अब ये कहेंगे इसको बोलना नहीं आता कैसे भाषण देना चाहिए मंडन प्रधान बोलना मीठा बोलना वो बुद्धिमत्ता है आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे ऐसी भूल तो नहीं करोगे प्रवचन देने जाओ और वैसा कर डालो इसलिए सावधान किया जा रहा है प्रवचन कैसे देना चाहिए किस अवस्था वाले को कैसे देना चाहिए ये एक विद्या है अब विद्या नहीं सीखोगे तो नहीं आएगी कैसे बोले इसके लिए हमें अनेक बात देखते हैं कहीं इस विषय में पुस्तक पढ़ते हैं कि बोलना कैसे चाहिए एक पुस्तक वो कहा है यहां है या वहां है थी उसका नाम है लगभग है भाषण संभाषण है हाँ तो उसमें आप देखेंगे कितनी विधि विधान उसने बनाए भाषण संभाषण आपस में बातचीत करें तो कैसे और उपदेश सभा में बोले तो कैसे वो वो उसमें कुछ अंश ऐसे होते हैं हमको जरूरत नहीं उनकी और अनेक अंश ऐसे होते हैं अनिवार्य होते हैं हमारे लिए हम उनको इसी रूप में याद करते हैं उसी तैयारी करते हैं तो कुछ दिनों व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है और सभा को बदल देता है दिमाग बदल देता है और न बोलने वाला बिगाड़ देता है सारी सभा को <laughs> वो कहता ये कहाँ का बोलने वाला आया इसको फिर मत बुला लेना ईश्वर ये कहेंगे लोग ये प्रवचन उपदेश देना सीखना होता है पुस्तकों से सीखो फिर ऋषियों के ग्रंथों से सीखो फिर बोलने वाले जो बोलते हैं उनमें जो जो बातें अच्छी है उनको अपनाते जाते हैं और सुविधाजनक बात के बाद टेप रिकॉर्ड होता है फिर बोलने वाला बोलता है कई बार वो व्यक्ति ज्यो का तू उस प्रवचन को याद कर लेता है अथवा मोटी मोटी बातें लिख लेता है और वो ऐसे प्रवचन करते करते बीस तीस चालीस हो जाते हैं उन्हीं को फिर तैयार करता है उनको बोलता रहता है जो बुद्धिमान नहीं वो न ध्यान देता न वो कॉपी बनाता न प्रमाण लिखता कुछ नहीं आया तो बोल दिया तो वो सफलता नहीं मिले सफलता कैसे मिले उपदेश में अच्छे स्तर का उपदेश प्रवचन है दिमाग को बदल देता है लोगों की विचारधारा को ही बदल देता है इसलिए अपनी कापियों में ये लिखते रहते हैं तैयार करते हैं भाषण की रूपरेखा मुख्य मुख्य बिंदु लिखते हैं प्रमाण लिखते हैं जब बोलना हो कभी तो पहले से तैयारी करते हैं बहुत अच्छी तैयारी सज्जा करते हैं आधा घंटा बोलना हो तो पौने घंटे का तैयार करो प्रवचन क्या समझ में आया कई बार कई बार भूल गया बीच में कल्पना करो बोलता बोलता भूल गया अब भूल गया तो आपके पास में एक घंटा का था और भूल गए वो पंद्रह मिनट वाला था कल्पना करो और एक अंश भूल गया तो दूसरा आरंभ कर दिया उसने और उसने तैयारी आधे घंटे की की थी तो पंद्रह मिनट भूल गया तो पंद्रह मिनट रह गई वो गए क्या बोलेगा वो इधर देखेगा उधर देखेगा और वो भाषण में भाषण देखता है कि मूर्ख है बोलने आया था या इधर उधर देखने आया था <laughs> वो कहता है कि भाई बोलना कोई असंभव भी नहीं है और बोलना कोई कठिन बात भी नहीं है यदि तैयारी की जाए तो तो देखिए कैसी रोचक बात कहता है नया नया व्यक्ति डरने वाला व्यक्ति नई सभा में बोलने जाता है और कहता है भाई आज इतने लोगों के सामने खड़ा होकर बोलूंगा मुंह दिखाना पड़ेगा हे भगवान कोई सिपाही आके मुझे पकड़ के ले जाए तो अच्छा है मुझे बोलने नहीं जाना पड़ेगा <laughs> <laughs> ये वो चित्र खींचता है व्यक्ति के ऐसे होता है और फिर कहता है जब खड़ा होने लगता तो इतना डर लगता है ठंड पट गया तो भी पसीना आ जाएगा देख लेना फिर कहता हे भगवान नहीं वो बोलता है हे धरती माता मुझे अंदर संभाले मुझे बोलना न पड़े <laughs> गुरुकुल में अमावस्या पूर्णिमा को बोलते थे वाग वृद्धि सभा और हम भी कुछ बोलने का अभ्यास करते थे भाई इतने ब्रह्मचारी अमावस्या को बोलेंगे इतने पूर्णिमा को बोलेंगे तैयारी करके जाते थे और एक व्यक्ति विद्यार्थी और था हमारे साथ में और उनका नाम था जो प्रबंध करते थे उनका नाम वेद व्रत था तो कहने के देखो भाई वेद व्रत मेरा नाम जो बोलने वाले में लिखो तो जब खूब जोर की ठंड ज्यादा पड़ जाओ जब लिखा जब बोलने उठता हूँ पसीने पसीना हो जाता हूँ जाड़े में मुझे आराम रहेगा गर्मी में मुझे कठिनाई होती है कुछ समझ में आ रही है सारी बातें या नहीं आ रही ये तैयारी करनी पड़ती है मानसिक तैयारी और बाहर की तैयारी अच्छा दोनों सज्जा करने पर फिर व्यक्ति घबराता नहीं है आत्मविश्वास से बोलता है एक विज्ञान है विद्या का भाग बहुत बड़ा और जब चरित्रवान व्यक्ति अच्छा बोलता है तो लाखों लोग प्रभावित होते हैं इसलिए उस चरित्र को जानते हो तो और बिना चरित्र का बहुत अच्छा बोलता है तो उसको न जानने वाले प्रभावित होते हैं क्या समझ में आया नहीं आया समझ में क्या आया बिना जाने लोग हैं वो अच्छे बोलने पर प्रभावित हो जाते हैं लेकिन होते हैं जानने वाले इतने नहीं होंगे और जानने वाले और न जानने वाले चरित्रवान व्यक्ति बोलता तो दोनों प्रभावित होते हैं वहां बान प्रशासन में कांगड़ी के कार्यक्रम में एक सप्ताह तक मेरा कार्यक्रम रहा अधिकतर वृद्ध माताएं और वृद्ध पुरुष होते हैं वहां तीन सौ चार सौ ढाई सौ आश्रम में रहते हैं तो वृद्धा माताएं वृद्ध सज्जन है उनको सुनाया और योग का भाग जैसे एक होता तो एक सुनाया राष्ट्र के विषय में भाग लेकर के तो उनको सबके अंदर विचारो में परिवर्तन सब में उत्साह और सब में लहरें पड़ी कि ये तो बहुत अच्छा उत्साह भर दिया गया तो भाई ऐसे उत्साह भरोगे तो लोग आगे बढ़ जाएंगे ना भरोगे तो आप ही बूढ़े की तरह मुंह से गोड़ के बैठे रहो और वो भी बैठे रहे कुछ कुछ होने वाला नहीं है क्यों जसू भाई जी बूढ़े की तरह मत रहा करो ठीक है तो इसलिए हमको किन किन क्षेत्रों में क्या क्या करना चाहिए ये सब जानना और जान के उसका प्रयोग करते रहना और फिर अपने आप को बना करके विद्वान धार्मिक योग के क्षेत्र में गति कर फिर समाज को राष्ट्र को ऊपर उठाना हम सब कर सकते हैं और योजनाबद्ध करेंगे विधि पूर्वक करेंगे आप तो हो जाएगा योजना नहीं है कोई विधि नहीं है तपस्या नहीं है त्याग नहीं है तो आप सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाएंगे विशेष व्यक्ति नहीं बन सकते अब मेरा सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों व्यक्ति आंतरिक विरोधियों के संबंध में क्या कुछ करे और बाह्य विरोधियों के संबंध में उसको क्या करना चाहिए अंदर के विरोधी तत्व अविद्या अधर्म विपरीत वस्तुओं की उपासना कुसंस्कार ये अंदर के विरोधी तत्व हैं संक्षिप्त रूप से व्यक्ति का शत्रु घातक अज्ञान अविद्या मूर्खता सबसे बड़ा माना जाता है उससे जनित अविद्या से अज्ञान से जनित अन्याय अधर्म कुकर्म ये उससे जनित तत्व दूसरे माने जाते हैं आगे बढ़ी उसी अविद्या से जनित उत्पन्न उल्टी उपासना विपरीत उपासना कु उपासना झूठी उपासना ये विरोधी तत्व है और इन से उत्पन्न होते होते कलेश दुख अशांति बंधन इनसे जनित ये संक्षेप है संक्षिप्त कथन है कभी कभी व्यक्ति को किन्हीं बातों की संगति नहीं लगानी आती आजकल अपने रणबीर जी विशाल जी संदीप जी साधक जी मीमांसा से संबद्ध मीमांसा दर्शन गलत पड़ती उस पर बहुत बल दिया गया कि वेद अथवा दर्शन भौतिक विज्ञान विविध विद्याओं के जो शास्त्र बनाए जाते हैं उनके वाक्यों का अर्थ कैसे करना चाहिए यदि वाक्यों के अर्थों में भूल हो जाए तो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित हो जाता है वो दूसरे अर्थ करता हुआ चला जाता है अभी आप पढ़ रहे थे क्या हे ईश्वर जो हमारे ऊपर आक्रमण करता है हिंसक है घातक है दुष्ट है उससे हमारी रक्षा करो ये प्रार्थना की गई तो जब ईश्वर हमारी रक्षा करता है तो संसार में हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला कोई मिलेगा नहीं यदि इसका ऐसा ही अर्थ कर दिया जाए क्या समझ में आया हाँ जी प्रार्थना में कहा गया हे ईश्वर जो हिंसक है हमें मारना चाहता है उससे आप हमारी रक्षा करो और इसका यही अर्थ ले लिया जाए सीधा का सीधा किसी भी प्रकार का आक्रमण करने वाले को ईश्वर हटा सकता है ईश्वर रोक देता है ईश्वर हमारी रक्षा करता है हमें कोई चिंता नहीं है ऐसा ही अर्थ कर लिया जाए तो अनर्थ होगा नहीं समझ में आया आपको जब विदेशियों ने आक्रमणकारियों ने विरोधियों ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय यही दिमाग बना हुआ था ये भगवान इन मूर्तियों में उतर के आ जाता है और वो हमारी रक्षा करेगा किसी को कोई चिंता नहीं करनी सोमनाथ का मंदिर कैसे लूटे कैसे गाजर मूड़ी की तरह काटा गया उन्होंने ये बताया शिकाया कि भगवान ये हुआ अब ये शास्त्र ये वेद दर्शन क्यों पढ़े पढ़ाए जाते हैं व्यक्ति को सभी अवस्थाओं में सभी कालों में सभी स्थितियों में वाक्यों का अर्थ समझ में आ जाए उसको लगाना आ जाए वो परिणाम अपना और समाज का राष्ट्र का या विश्व का कल्याण कर देगा वो व्यक्ति अब ये वाक्य तो ऋषि का है ये ईश्वर मारने वाले से हमारी रक्षा करो अब इसका हम अर्थ करने लगे उचित तो क्या बनेगा हमें अपनी शारीरिक शक्ति को पूरी बढ़ाएंगे हमें बौद्धिक विज्ञान सब प्रकार का पूरा प्राप्त करेंगे हम हाँ, आक्रमणकारी को रोकने के लिए जितने भी साधन हैं वो सारे उपार्जित करेंगे उनका उत्पादन करेंगे हम सब मिलके संगठित होके आक्रमणकारी का प्रतिकार करेंगे निराकरण करेंगे मारेंगे व्यक्ति को और ईश्वर हमको बुद्धि देगा साहस देगा उत्साह देगा संयम देगा प्यार से रहने की शक्ति देगा ईश्वर हमारी सहायता इस रूप में करेगा यदि हम मन इंद्रियों पर संयम रखते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं बलवान होंगे इंद्रियों के विषय भोग में नहीं फंसेंगे बिल्कुल यदि हम मन इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो आपस में प्यार से रहेंगे संगठित रहेंगे अन्यथा आपस में झगड़ेंगे इंद्रियों पर संयम नहीं होगा तो यदि हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो आप उसमें प्यार से रहेंगे झगड़ेंगे कभी नहीं यदि हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो स्वार्थी नहीं होंगे परोपकारी होंगे एक दूसरा दूसरे के लिए तनमन धन लगाएगा फूट विरोध परस्पर होगा ही उस समय ईश्वर हमारे अंदर अंदर से उत्साह देता है विद्या देता है धैर्य देता है सूझबूझ देता है बुद्धि तो हम हाँ, इस स्थिति में ईश्वर से मांगते हैं इतने काम हम करेंगे और इतने कार्यों के साथ ईश्वर हमको विद्या दो साहस दो आनंद दो जितेंद्रियता दो ये बल दो तो ये अभिप्राय हुआ ईश्वर उस हिंसक से हमारी रक्षा करो समझ में आया नहीं आया नहीं आया हो तो पूछो इसलिए आंतरिक विरोधी तत्व है इन आंतरिक विरोधी तत्वों को अविद्या को अन्याय को विपरीत उपासना को विषय भोग के वासनाओं को इनको मारना इनको मारो समाप्त करो जब हम इनको मारेंगे तब हमको ईश्वर विद्या देगा बल देगा आनंद देगा सर्वशक्ति देगा और जिस समय व्यक्ति इनका साथी बन जाएगा अविद्या का अधर्म का अन्याय का उल्टी उपासना का कुसंस्कारों का तब ईश्वर हमारी सहायता नहीं करेगा दंड देगा कभी कभी व्यक्ति क्या भूल करता है एक ओर तो वो मन को चलाता है या नहीं चलाना चाहिए और एक और ईश्वर से प्रार्थना करता है ईश्वर मेरे मन को भस्म करने का बल दो बुद्धि दो ज्ञान दो एक और वो उपासना वो ईश्वर से प्रार्थना करता है ईश्वर की दृष्टि में ये अन्याय है अनुचित है ईश्वर इसका दंड देगा इस व्यक्ति को सहायता देने की बात दूर रहे अब परिणाम निकला आंतरिक विरोधी तत्वों को बाहर के विरोधी तत्वों को हटाने की प्रक्रिया पद्धति व्यक्ति को नहीं आती यदि वो ईश्वर को जानता ईश्वर के स्वभाव को जानता तो मन में उठने वाली बुरी वासनाओं को अत्यंत परिश्रम अत्यंत विरोध करता और फिर ईश्वर से मांगता ईश्वर उसको बुद्धि देता बल देता आनंद देता तो वो जीत लेता मन को इसलिए संसार में करोड़ों लोग प्रार्थना करते हैं भक्ति करते हैं जो जितना भी उसमें बिना विधि के उसके करने से लोगों को सफलता नहीं मिलती विफलता मिलती है यदि आपने भी ऐसी भूलें कर दी आपको भी विफलता मिलेगी सफलता नहीं मिलेगी जिस समय व्यक्ति दोनों प्रकार के बाधकों को जीतने का प्रयास उचित प्रयास करता है तो ईश्वर उसको सहायता देता है आगे बढ़ जाइए इतना ही नहीं जब व्यक्ति उचित प्रयास करता है तो बुद्धिमान धार्मिक व्यक्ति भी उसको सहायता देते हैं सोचने का ढंग कोई व्यक्ति ऐसा समझने लगे कि मैं अपनी बात करता रहूं अपने प्रयोजन सिद्ध में करता रहूं और समाज राष्ट्र विश्व वो कहीं जाए उससे कोई लेना देना नहीं अपना काम करूं परिणाम ये होता है न व्यक्ति की उन्नति होती न समाज की उन्नति होती परिणाम ये होता है आज यदि अधिक व्यापक रूप देखना हो तो भारत में इसको देख सकते हैं आप इस रूपरेखा को व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और आगे विश्व की बात करते हैं आप देखेंगे कि प्राय है व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दौड़ धूप करता है दूसरे की बात ही नहीं सोचता करोड़ों में कोई एक व्यक्ति को हटा दो करोड़ों में एक आध को शेष व्यक्ति भारत के लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर डालो दूसरा चाहे मरे या जिये कुछ भी हो ये बुद्धि बनी हुई है यदि देखना हो तो चौराहों पर भी देख सकते हो आप बसें जहां चलती है ना चौराहे वहां अहमदाबाद में देखो फिर दिल्ली में देखो कैसे अन्याय पूर्वक बिना किसी मार्ग के बिना किसी के नियम के धड़ाधड़ चलते हैं स्कूटर कारें वो ये ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी और चल रहे हैं अपना और वहां टक्कर हो जाती है तो आधा घंटा सारे रुकेंगे आधा घंटा तक रुके रहेंगे तो फिर और भीड़ होती जाएगी जैसे जैसे पीछे से काल जाता जाता है भीड़ पड़ती चली जाती है किलोमीटरों पर चली जाती है सबके कई कई घंटे खत्म हो गए और फिर लड़ाई होगी वहां पर कोई कोई दुर्घटना होगी और लड़ाई से फिर मुकदमे हो गए वहां पर उसी उसी के कारण वह वो नियम भंग करके भाग रहे थे मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाए दूसरा मरे जी ये कोई कारण यही था अति स्वार्थी व्यक्ति अपना भी स्वार्थ नष्ट कर देता है क्या समझ में आया अति स्वार्थी व्यक्ति अपना भी स्वार्थ नष्ट कर देता है अति स्वार्थी व्यक्ति अपना भी प्रयोजन नष्ट कर देता है दूसरे का तो करता ही है यदि वो एक दो क्षण सावधान होकर गाड़ी स्कूटर को इनको चलाता तो वो दुर्घटना नहीं होने वाली थी बिना नियम के नियम भंग किया एक दो क्षण में ही हो गया एक दो क्षण ही उसमें रुकना था अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेता जाके अब क्या किया एक दो क्षण के कारण ही उसने बिना नियम के चलाया बिना नियम के चलाया तो दूसरा नियम से जा रहा था उसे दुर्घटना होगी अब उसका भी नष्ट हो गया और इसका भी नष्ट हो गया और यह कहता मैं बहुत बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं इतना तेजी से चलता हूं अपने सारे काम कर डालता हूं दुनिया को धोखा दे दे करके अब ऐसे पूछ की तरह घुमाता स्कूटर को वो ऐसे जैसे पशु पूछ को घुमाता है ना ऐसे ऐसे घुमाता है बिना नहीं और कार चलाने वाला गाड़ी चलाने वाला कहता देखो जी कितना नियम भंग कर रहा है देखो मैंने कहा इसको मत छेड़ो आप अपनी गाड़ी को बचा लो <laughs> इसको इसको देखोगे ना ये देखो वो नियम भंग कर रहा मैं तो कर नहीं रहा मैं तो नियम पर चल रहा तो दुर्घटना हो जाएगी वो नियम भंग करता ही जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति नियम भंग करते हुए को देखो आप नियम पालते हुए को मत देखो क्या समझ में आया नहीं आया समझ हम्म? ये ये समझो ये नियम भंग करेगा ही लगभग ऐसा फिर तो बच जाओगे आप ये नियम भंग करेगा मैं बचूंगा कहता नहीं मैं नियम में चलूंगा तो ये भी नियम में चलेगा ऐसा हुआ तो दुर्घटना होगी अब भारत की स्थिति सुना रहा नहीं आया समझ में अब मतलब कहीं भी कोई व्यक्ति नियम भंग कर सकता है हाँ दिमाग बना लेना चाहिए आप यहां कमरे में सो रहे हो कमरे के दरवाजे खुले हैं आप कहते हैं हम सारे विश्व को अपना मित्र मानते हैं सबसे प्यार करते हैं किसी का बुरा नहीं चाहते दिन रात संसार के कल्याण के लिए लगे रहते हैं और आप ये माने हम खुला दरवाजा छोड़ेंगे और कोई रक्षा का साधन नहीं रखेंगे तो जब हम ही किसी को नहीं छेड़ते तो हमको कोई नहीं छेड़ेगा ये आपकी बुद्धिमत्ता है या मूर्खता है बस ऐसी मूर्खता मत कर देना नहीं आया समझ में तो हम तो जिस गाड़ी में बैठते हैं कार में मैंने कहा देखो आप ये मान के चलो नियम लगभग करेगा ही भंग उससे बचना है आपने तत्काल निकलेगा तत्काल आप सोचेंगे मैं तो बाय चले रहा हूं मैं तो बाय चल रहा हूं ठीक है और वह एकदम आएगा आगे जाकर खड़ा और टक्कर लगेगी और सारे दोष आप पर मरेगा वो अब बताओ मुकदमा आप पे और वहां उसने धन दे दिया उस टक्कर मरवाने वाले ने तो कारागार या कई हजारों का दंड आपको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा जिसे नेम भंग किया ये सरकार है सरकार नाम की चीज ये है जो उसको धन दे देवे सरकार को वो जीतेगा और जो नहीं देवे वो कितना ही सच्चा क्या ना हो लगभग वो हारेगा और फिर कहते थे सत्य में हो जाए थे तो ना अनरीतम हमने सुना तो यही था सत्य में हो जाए थे तो ना अनरीतम फिर ये अनरीत झूठ कैसे जीत रहा है उन्होंने ये नहीं पता चला ईश्वर के न्यायालय में ये पंक्ति लगती है समाज में कहीं लगती है कहीं नहीं लगती अब क्या समझ में आया सत्य में हो जाए थे तो यह पंक्ति ईश्वर के न्यायालय में शत प्रतिशत लगती है शत प्रतिशत लगती है सत्य में हो जाए थे जीत हमारी होगी ईश्वर के न्यायालय में पर यहाँ कभी हो सकती है नहीं तो यहाँ तो अन्याय अन्याय हमारे ऊपर हो सकता है इसकी आशा मत रखना यहाँ सत्य में हो जाए थे अंतिम जीत जो है वो हार ईश्वर के हाथ में है वो निश्चित में जय थे इसमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें मत समझ लेना कि यहां पर जो न्यायालय आज चल रहे भारत जैसे और भी उनमें आप ये देखें दिखा तो ये था सत्य में हो जाए थे फिर हो क्या रहा पर इतना याद रखना जहां सत्य को जिताने वाला हो असत्य को मारने वाला हो वहां सत्य में हो जाए थे समाज में अब क्या समझ में आ दोहरा लो जब न्यायकारी पुरुष सत्य समाज में उत्पन्न होते हैं तब वहां सत्य में जयते तो की सिद्धि होती है नहीं तो नहीं होती अपने आप सत्य में जयते तो नहीं होता नहीं आया हूं तो फिर दोहराऊं साधक जी क्या समझ में आया वहीं पर होगी जहाँ सत्य के आचरण करने वाले होंगे सत्य अपने आप विजय नहीं होती और दूसरी बात क्या बतलाई ईश्वर के न्याय क्षेत्र में ईश्वर के अधिकार के क्षेत्र में सत्य में जय सत्य नान जयते में शत प्रतिशत तीनों कालों में होगा इसमें कोई संदेह की बात नहीं समाज में राजनीति में न्यायालयों में इनमें लोग झूठ धन रिश्वत दे दे के झूठ को जताते रहते हैं और सत्य को दबाते रहते अब व्यक्ति निराश अदास होता है जो इतना धन दे नहीं सकता उसके बाहर के व्यक्ति भी सहायक नहीं वो पहले ही अपनी हार पहले तो मुकदमा छेड़ेगा ही नहीं और छेड़ दिया तो कहेगा इसे छुटकारा कैसे पाऊं एक शिक्षण शिविर में एक वकील भाग ले रहे थे उड़ीसा की घटना गुरुकुल में तो भाई अपना अपना आत्मनिरीक्षण सुनाओ आप व्यवहार में कितना सत्य बोलते हो और कितना झूठ तो उस वकील ने कहा उसका भाव सुनाता हूं कि मैं प्रातः काल से लेकर के सायकाल तक खूब झूठ बोलता हूं ये जो आप देख रहे आजकल की कचहरी न्यायालयों में आप देखेंगे एक आध व्यक्ति मिले जो कहता हूं मैं झूठे मुकदमे नहीं लूंगा मैं रिश्वत के आधार पर ऐसा नहीं करूंगा नहीं तो सभी झूठा दिमाग बनाते झूठी योजना करते झूठे मुकदमे लड़ते सच्चाई को हराते वो जानते हैं सच्चाई हराई जा रही है पर उसको तो लाखों रुपया मिलता है उच्च कोटि के जो वकील होते हैं जिनको बहुत शरमोर बोलते हैं वो तो एक सुझाव देने पर पचास हजार एक लाख रुपया ले लेते इतनी कमाई इतना लेते लेते भी उनका पेट तो भरता नहीं जो के त्यो कभी की भाषा में स तो बहुत ही दरिद्र है यश्य तृष्णा बढ़ती जाती है और धन आता जाता है फिर वो व्यक्ति उस धन की रक्षा करता करता दिन रात दुर्भाष ये वो फिर बाहर का आक्रमण राजा का आक्रमण चोरों का आक्रमण अपहरण करने वाले का अपहरण वो व्यक्ति चार दो चार फुलके नहीं खा सकता उसने ये काम किया अपने जीवन में <laughs> वो सूखी रोटी नहीं खा सकता आनंद से हलवा खीर की बादाम की बात छोड़ो ये कमाई है ही नहीं एक समझाने के लिए मोटा दृष्टांत दिया जाता है समझाने के लिए बनाए जाते हैं कुछ दृष्टांत व्यक्ति को समझाने की दृष्टि से कल्पना की जाती है बताया जाता है कि भाई एक गधा था एक कुत्ता था तो गधे के ऊपर तो बोरा था बड़ा लंबा चौड़ा रुई का और कुत्ते के पीठ पे था नमक का होती है तो जाता है इधर पशु भी खिसकाना जाता है और कई दुष्ट बैल होते हैं गाड़ी में चलते हैं कभी देखे नहीं आपने वो जुए का भार बराबर रहना चाहिए वैसे नहीं समझे आप दोनों संतुलित हो दोनों खींचेंगे पर वो बनेगा <laughs> और दूसरा भी दुष्ट हो तो <laughs> तो दो बल दो जगह पर दूसरा ये दूसरे पर बताने के लिए कदे के दृष्टान दिए जाते नहीं सुने आपने देखो हम तो अध्ययन करते हैं पशुओं का पक्षियों का कीट पतंग का चिड़ियाओं का और आपका भी <laughs> आपका अध्ययन करते रहते ये क्या करते हैं पानीपत में कार्यक्रम चल रहा था और प्रातः काल अपना हम जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जैसे जाते हैं प्रचार की दृष्टि से और आठ दस जो गधे होते हैं उन पर बोरे मिट्टी के बोरे भर भर के लाते हैं बाहर से गधे वाले और किसी के भवन को भरते हैं नीचे की नीम और वो फरस भरते हैं ना देखा होगा कोई गधे से लाएगा तो कोई अपने ट्रक से ले आएगा कोई गाय और जीप से कुछ ही ले आएगा वो अब आगे दो सड़कें चलती थी एक दाए एक बाए और वो गधे चलते चलते जहां जाना था, था बाए कल्पना कीजिए आप <coughs> बाए जा रहे थे बार बार वो ला रहा था मिट्टी और कुछ गधे क्या करते जब मिट्टी उसी ओर से आता उसी ओर से आते आए नंबर पर दाई सड़क पर चले जाते दाई पर और जब पता चलता कि देवालय को तो दाई पर चला गया उसको लौटाता और मार डंडे मार डंडे वहां ले आता दो बार फिर भटके जाता है तो दो बार फिर दाई सड़क पर वही गदा फिर पिटाई वही गदा वही पिटाई वही गदा वही पिटाई दिन भर गधे की पिटाई अलग है और भार अलग तो गधे का दृष्टांत इसलिए दिया जाता नहीं समझा नहीं? आपने गधे लड़ते देखे कभी नहीं देखे <laughs> इतने भोले वाले व्यक्ति आप एक तो ये मुंह से लड़ते हैं और मुंह से क्या बोलते हैं इसको काटना तो जानते हैं ऐसे एक दूसरे के चमड़े को काटते ना जैसे उनको छोड़ना नहीं जानते तो मकौड़े देखे आपने और तो इसका तो देखा होगा काले रंग के होते हैं कई प्रकार के होते हैं कई मकौड़े ऐसे होते हैं छोड़ देते हैं काटते हैं छोड़ते हट जाते हैं और कई एक ऐसे होते हैं एक बार यदि पकड़ लिया पीछे से पूरा शरीर टूट जाएगा उसका मुंह मुंह टकता रह जाएगा वो छोड़ेगा नहीं अध्ययन नहीं किया इसका है देखा है इसका मकोड़ा ऐसे अब दूसरी बात सुनो पहले तो ये मुंह से काटता है तो इतना भयंकर पकड़ता खाल कट जाएगी छोड़ेगा नहीं मारो इसको डंडे भले व्यक्ति छोड़ के दूर हो जा क्यों डंडे खा रहा <laughs> वो छोड़ेगा नहीं और इसकी लड़ाई ये तो आगे की लड़ाई है आगे से हटते ही पीठ घुमाएगा और दोनों पैरों को मारेगा उसके दांत खट्टे हो जाए <laughs> दूसरा का दांत जो है ना दोनों पंजे से पीछे से ऐसे मारता बड़ा भयंकर है पंजे पीछे से ऐसे देखा नहीं कभी इतनी जोर की लात मारता है पर इसके गुण जो है ना बड़ा दृढ़ शरीर होता है हड्डी बहुत मजबूत पतले पतले पैर और जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं बड़े बड़े भार ले जाते खच्चर होता है एक दूसरी जाति मिली जुली अरे गधा ये ही वहां ले जाते हैं बाहर को और व्यक्ति ले जा भी नहीं सकता जीप वहां जाती नहीं कार वहां जाती नहीं नहीं वो गधा और खच्चर चलते इतना दृढ़ है इसकी पीठ बैल की पीठ इतनी मजबूत नहीं है अच्छा ये बताओ आपने कभी घोड़ा बैठा देखा है कोई बीमार होगा बूढ़ा होगा शक्तिहीन होगा बीमार होगा नहीं बैठा नहीं मिलेगा हाँ, तो नहीं समझे इस बात तो खड़ा ही रहता है चौबीस घंटे एक लेट होती है इनकी जिम्मे थकान उतारते हैं नहीं समझे चलते फिरते या अपने जगह पर खड़े होते ना लेट लगाते हैं दोनों ओर ऐसे इस ओर पैर लगेंगे इस ओर पैर लगेंगे दो चार पांच लगा लगू के और झड़का झड़कू के, के फिर खड़ा हो जाता है और चौबीस घंटे खड़ा रहता है बैठता नहीं कमजोर हो हीन शक्तिहीन हो गया हो बीमार हो तब तो अब देखो कितना कितना मजबूत बनाया है परमात्मा ने इसके पैरों को रिन को हम यदि खड़े हो जाए तो शायद मर जाए चौबीस घंटे खड़े रहे नींद में भी रोज जगने में तो हमारी स्थिति क्या होगी नहीं समझे और वो खड़ा रहने से ही अपने आप को स्वस्थ देखता है तो व्यक्ति अंदर के विरोधी तत्वों को जानना फिर उनको दबाना उनको कमजोर करना उनको मार देना बाहर के विरोधी तत्वों को रोकना उनको निर्बल करना और दो स्तर हैं मानव समाज में या तो